ओशो सर्वसार उपनिषद talks on Sarvasar Upanishad, given at meditation camp, Mathiran, India, discourse number 5. जागृत है पहली अवस्था स्वप्न दूसरी तीसरी है सुसुप्ति सुसुप्ति का अर्थ है न तो बाहर के जगत का कोई बोध हो न वस्तुओं का कोई अनुभव हो और न ही वस्तुओं के द्वारा निर्मित आकृतियां संग्रहित मन के संस्कार और उनसे निर्मित स्वप्नों की कोई प्रती हो चेतना पूरी तरह सो गई हो कोई भी बोध शेष ना रह जाए चेतना हो लेकिन बोध ना हो जीवन हो लेकिन बिल्कुल सुप्त हो जाए किसी तरह की कोई प्रतीति ना होती हो ऐसा हो जाए व्यक्ति जैसे कि जड़ जीवित रहते हुए जड़ जैसा हो जाए दो अवस्थाएं हमने समझी आंख खोलते हैं बाहर का जगत दिखाई पड़ता है आंख बंद कर लेते हैं तो भी बाहर जो देखा है उसका भीतर स्वप्न दिखाई पड़ता है कुछ दिखाई पड़ता ही रहता है न हो जगत तो जगत से बनी हुई आकृतियां पुनः पुनः मन के पर्दे पर दौड़ने लगती लेकिन कोई दृश्य बना ही रहता है जहां सभी दृश्य खो जाते हैं उस अवस्था का नाम सुसुप्ति है न तो बाहर की वस्तुओं का पता चलता और न भीतर के विचारों का सभी चित्रों का प्रवाह बंद हो जाता है पर्दा खाली हो जाता शून्य हो जाता कोई बोध नहीं रह जाता उस अवस्था का नाम सुसुप्ति अब यहां कुछ बातें समझ लेना बहुत ही जरूरी है पहली बात तो ये समझ लेना जरूरी है कि हमें अपना कोई भी बोध नहीं है अगर हमें अपना कोई बोध होता तो जगत खो जाए स्वप्न खो जाए कम से कम एक बोध तो बना ही रहता कि मैं हूं न दिखाई पड़े चांद तारे सूरज बंद कर लू आंख न चले कोई स्वप्न तो भी मैं तो हूं लेकिन हमें स्वयं का कोई बोध नहीं हमारा सब बोध पर केंद्रित है हमें दूसरे का पता है अपना कोई पता नहीं तो जब सभी दूसरे खो जाएंगे तो बोध भी खो जाएगा होश भी खो जाएगा हमें जो भी होश है वो दूसरे का है अपना तो कोई होश है ही नहीं पैर में पत्थर लगता है तो हमें पता चलता है पत्थर का और पता चलता है मन में बने हुई दर्द की प्रतीति का अपना कोई पता नहीं चलता जिसको पता चलता है उसका हमें कोई पता नहीं चलता मैं बोल रहा हूं अभी आप सुनते हैं तो आपको मेरे शब्दों का पता चलता है और आपके कान पर जो झंकार बनती है उसका भी पता चलता है लेकिन इन सब के भीतर छिपा जो सुनने वाला है उसका कोई पता नहीं चलता तो अगर बोलना बंद हो जाए और कान में पड़ने वाले शब्द खो जाएं और भीतर भी ध्वनि ना उठे तो फिर आपको कोई होश नहीं रह जाएगा इसलिए कुछ विचारक तो यहां तक भी कहते हैं और उनका कहना सौ में निन्यानबे मौके पर सच है वे कहते हैं चेतना जैसी कोई चीज ही नहीं केवल दूसरी उपस्थित चीजों के प्रति जो प्रति संवेदना है वही केवल चेतना है वे कहते हैं Consciousness in itself is nothing. One is always conscious about something. So the about is important. Consciousness is always objective. You are conscious of something. If there is nothing before you, consciousness will drop. You will not be conscious. this state, the oriental religious perception says is disusupti. This is the third state. When there is no object to be known, the knower is lost. When there is no object in the outside world to be aware of, and when there is no object in the mind, dream object, when all objects have dropped outside our dream objects, then the consciousness drops. Then you are not conscious. Then you are unconscious. This unconsciousness is susupti, the third stage. But this is amazing. It means that we are not conscious really, we are only objectively conscious. We have not known ourselves, we have known only objects and things. Our consciousness is other oriented. It is not self-centered. Art can be conscious only when something else is present. When nothing is present, I will go in sleep. I have not known any subjective consciousness which can exist without the object. That's why in the third state, consciousness equals unconsciousness. It becomes unconscious. ये जो तीसरी अवस्था है अचेतन हो जाने की सुप्त हो जाने की ये बड़े गहरे रहस्य खोलती है पहला तो ये रहस्य खोलती है कि हम बड़े भ्रम में हैं कि हमारे पास चेतना है हमारे पास चेतना नहीं इसलिए जब आप खाली खाली होते हैं तत्काल नींद पकड़ लेती खाली जागे रहना बहुत मुश्किल मालूम पड़ता है व्यस्त नहीं है आप तो तत्काल नींद उतरनी शुरू हो जाती है इसलिए व्यस्त होना जरूरी है और इसका दूसरा परिणाम भी होता है जब आप बहुत व्यस्त होते हैं तो लाख कोशिश करें नींद नहीं आती रात है बिस्तर पर पड़े हैं लेकिन विचार आए ही चले जाते हैं तो नींद नहीं आती क्योंकि जब विचार आए ही चले जाते हैं तो आपको चेतन रहना ही पड़ता है आप सो नहीं सकते विषय मौजूद है न सही बाहर का अगर कोई आपके पास में बैंड बाजे बजा रहा है तो आप नहीं सो पाते हैं क्यों क्योंकि वो बैंड बाजे की चोट आपको चेतन बनाए रखती है वो नींद में नहीं जाने देती लेकिन कोई बैंड बाजे भी ना बजा रहा हो आप आंख बंद करके पड़े हैं लेकिन आपके मन में बड़े ख्याल चल रहे हैं बड़े स्वप्न चल रहे हैं तो भी नींद नहीं आती अगर नींद लाने का विचार भी चल रहा हो तो भी नींद नहीं आती अगर ये भी ख्याल चल रहा हो कि कैसे नींद आ जाए क्या करूं कि नींद आ जाए तो भी नींद नहीं आती क्योंकि जब तक कोई ऑब्जेक्ट कोई विषय बना रहता है तब तक आप चेतन बने रहते विषय खो जाए आप तत्काल अचेतना में डूब जाते हैं तो हमारी ये चेतना वस्तुओं पर निर्भर है इसके हम मालिक नहीं ठीक से समझें तो यही है बंधन गहरे में दिस इज द बॉन्डेज कोई हमें जगाए तो हम जगे रह सकते हैं अगर कोई ना जगाए तो हम तत्काल बेहोश हो जाएंगे इसलिए आदमी रोज रोज नई नई संवेदनाएं खोजता है नहीं तो जिंदगी बेहोश होने लगती है एक ही पत्नी तो जिंदगी बेहोश होने लगती तो आदमी पत्नियां बदलना चाहता है एक ही मकान तो जिंदगी बेहोश होने लगती तो आदमी मकान बदलना चाहता एक ही भोजन तो जिंदगी बेहोश होने लगती तो आदमी रोज भोजन बदलना चाहता है ये बदलाहट इसलिए ताकि हम जगे रहे नहीं तो हम सो जाएंगे अगर बदलाहट बिल्कुल ना हो तो हम सो जाएंगे इसलिए सोने की सब तरकीबें एक काम एक तरकीब को उपयोग में लाती हैं सोने की जितनी भी तरकीबें हैं जिन लोगों को नींद नहीं आती उनके लिए सरलतम उपाय यह है कि वो कोई एक चीज को दोहराए चले जाएं तो थोड़ी देर में उग जाते हैं क्योंकि नया नहीं होता तो जगने का कोई कारण नहीं रह जाता तो आप अगर राम राम राम राम राम राम राम राम भी दोहराते रहें तो भी नींद आ जाएगी इसलिए जब करने वालों को जो नींद आ जाती है मंदिर में पूजा प्रार्थना करने वालों को जो नींद आ जाती है उसका कारण यह है कि एक ही शब्द में नवीनता न होने से चुनौती नहीं रहती जागने का कोई कारण नहीं रह जाता बच्चे को माँ माथे पे थपकी दे देती है दस पांच वही थपकी वही थपकी वही थपकी वो सो जाता है थपकी में कुछ और नहीं है ऊब जाता है उसमें कुछ नयापन नहीं है सो जाता है इसलिए आपको अपने कमरे में नींद जल्दी आ जाती है दूसरे के कमरे में देर लगती है क्योंकि दूसरे का कमरा थोड़ा नया है आपको अपने ही तकिए पर अपने ही बिस्तर पर नींद जल्दी आ जाती है दूसरे के बिस्तर पर दूसरे के तकिए पर नींद जल्दी नहीं आती कुछ नया है जो जगाए रखता है इसलिए सभी लोगों के सोने का एक रिचुअल होता है क्रियाकांड होता है छोटा बच्चा है परेशान है वो अपना अंगूठा ही मुंह में दे लेता है थोड़ी देर में उससे उग जाता है कुछ नया नहीं सो जाता है छोटे बच्चे और बड़े लोगों में कोई बहुत फर्क नहीं है कोई आदमी जो कि रात जब तक सिगरेट न पी ले तब तक सो ना सकेगा तो सिगरेट पी लेता अंगूठा चूसने का सब्सटीट्यूट है फिर उसको नींद आ जाती फिर उसको नींद आ जाती नियमित क्रम है वो उबा देता है जल्दी नई जगह में नए लोगों के बीच नए मकान में नींद मुश्किल से आती है क्योंकि बहुत कुछ मौजूद है चारों तरफ जो आपको जगाए रखता है कहता है मुझे देखो जगो कुछ नया है पश्चिम में जो नींद टूट गई है उसका कारण यह कि पश्चिम इतने जोर से बदल रहा है कि रोज वहां नया मौजूद हो जाता है पूर्व अभी भी नींद के लिहाज से सुखी है ज्यादा दिन रहेगा नहीं एक गांव का आदमी गहरी नींद सोता है शहर का आदमी उतनी गहरी नींद नहीं सो पाता कारण कुछ भी नहीं है गाँव का आदमी पुराने में ही जीता है उबा हुआ ही जीता है उसमें नया कुछ होता नहीं जो जगा दे शहर के आदमी को रोज रोज सब कुछ नया है नई फिल्म चलती है नया अखबार छपता है नए लोग मिलते हैं नए सामान बाजार में आ जाते हैं दुकानों की सो विंडोज पर नई चीजें टंग जाती हैं नई फैशन हो जाती है रोज नया है उस नए के कारण जागना सतत हो जाता है नींद मुश्किल हो जाती है गांव में सब पुराना है वही गांव है वही रास्ता है सब वही है वही लोग हैं मैं अपने गांव कभी जाता हूँ साल भर बाद दो साल बाद सब वही का वही है तो गांव में प्रवेश करते हुए मैं जानता हूँ स्टेशन पर कौन सा कुली मुझे दिखाई पड़ेगा वही दिखाई पड़ता है एक ही कुली है फिर कौन सा तांगा वाला मुझे मिलेगा और वो तांगा वाला मुझसे क्या बातें करेगा क्योंकि वो सालों से वही बातें जब भी मैं जाता हूँ मुझसे करता रहा फिर गांव की सड़कों पर से तांगा जाता है तो मैं जानता हूँ कौन आदमी घर के बाहर सोकर खांस रहा होगा क्या हो रहा होगा गांव में वो प्रिडिक्टेबल है वो मुझे पहले से पता है कि ये हो रहा होगा उसमें ना के बराबर कोई फर्क होता कभी कोई घटना घटती गांव में कोई मर जाता है कोई जन्मता है कभी बाकी सब वैसा ही चलता चला जाता है पूरब नींद के संबंध में बड़ा सुखी था क्योंकि सब ठहरा हुआ था पश्चिम नींद के संबंध में मुश्किल में पड़ गया सब बदल रहा है इतने जोर से बदल रहा है पांच साल बाद उसी गांव में जाकर खड़े होकर यह कहना मुश्किल है कि ये वही गांव सभी कुछ बदल गया है तो नींद टूट गई है नींद अगर कोई विषय आपको उत्प्रेरित न करता हो तो स्वभावता फलित हो जाती है और अगर कोई प्रेरणा बाहर बनी रहे तो आप जागे रहते हैं सुसुप्ति की ये व्याख्या बड़ी अद्भुत है ये व्याख्या ये कहती है कि बोध स्वबोध जैसी कोई चीज हमारे पास नहीं है सेल्फ कॉन्सियसनेस जैसी कोई चीज हमारे पास नहीं है दूसरों की चेतना है दूसरे जगाते हैं तो हम जगे रहते हैं दूसरे हमें खींचते हैं तो हम जगे रहते हैं दूसरे चुनौती देते हैं संघर्ष देते हैं तो हम जगे रहते हैं अगर कोई हमें ना जगाए तो हम तत्काल सो जाएंगे गहरे में खो जाएंगे एक गांव में मैं ठहरा हुआ था एक आदमी को सांप ने काट लिया था कोई चिकित्सक गांव में नहीं है और दूसरे गांव तक उसे ले जाना है तो गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी कि उसे सो मत जाने देना जगाए रखना क्योंकि अगर वो सो गया तो शायद उसका लौटना फिर मुश्किल हो जाए तो दूसरे गांव से लोग ले जा रहे हैं उसे जगाए रखे हुए उसे जगाए हुए हैं उसे सोने नहीं देते उसको पानी छिड़क रहे हैं उसको उठा के बिठाए हुए हैं उसे हिला रहे हैं कि वो सोना चाहे उस दिन उस गाड़ी में उनके साथ थोड़ी दूर मैंने भी यात्रा की और तब मुझे अचानक ख्याल आया कि यह आदमी तो सांप का काटा हुआ है लेकिन हम सबकी भी हालत ऐसी ही है अगर हमें चारों तरफ जगाने वाले लोग ना हो तो हम भी खो जाएं और सो जाएं पूरे वक्त हमें कोई जगाए रखे नई उत्तेजना चाहिए तो थोड़ी रौनक आती इसलिए देखते हैं जब युद्ध छिड़ जाता है तो लोगों की आंखों में रौनक बढ़ जाती चेहरे पर ताजगी आ जाती नई घटना घट रही रोज नया अखबार सुबह जो कभी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अखबार की राह देखने लगते क्या होगा हैरानी की बात है युद्ध से उदासी आनी चाहिए लेकिन युद्ध से खुशी आती युद्ध से पीड़ा होनी चाहिए लेकिन युद्ध से ताजगी मालूम होती मरी मराई भी जिंदा मालूम पड़ने लगती जिंदा है कुछ खून दौड़ रहा है क्यों मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जैसा आदमी है ऐसे आदमी को रहते हुए हमें लड़ाई जारी रखनी ही पड़ेगी क्योंकि नहीं तो ये बिल्कुल सुस्त फिर इसको अच्छा ही नहीं लगता कहीं ना कहीं कुछ होता रहना चाहिए कोई उपद्रव नहीं तो हम सो जाएं हम सांप काटे हुए ये जो अवस्था है तीसरी सुसुप्ति इस अवस्था का अर्थ है जब कोई भी विषय हमें आंदोलित करने को नहीं होता न बाहर न भीतर न वस्तुओं के जगत में न विचार के जगत में तब जो स्थिति फलित होती है उसे भारतीय सुसुप्ति कहते हैं जीवित हम होते हैं लेकिन अचेतन होते हैं when there is no object as a challenge, one becomes unconscious. So this consciousness, this so-called consciousness, is just just a struggle, just a challenge, just a constant stimulus response. It is not anything in itself. You are not the master of it. You are not really conscious. You are only being forced to be conscious constantly. Everything is forcing you to be conscious. Otherwise, to go in sleep will be the spontaneous act. One will just drop into a coma. So can we call it consciousness? It is not. This state is not the state of self-consciousness. constant tension between you and the world, between you and the thoughts. If there are no objects and no thoughts, you drop and be unconscious. This is the third stage, susupti. And unless one transcends it, one cannot be called conscious. Gurdjieff used to say that man has no soul. He used to say that you have got no self. Because self means self-consciousness. Otherwise, how you can be said to have a self? If you are not conscious, how can you be a self? How you can be an individual? So Gurdjieff's teaching doesn't believe that every man has got a soul. He says every man has got a potentiality. He can develop, he may not develop. If you become self-conscious, then you develop the individual. Then you become the individual. If you are not self-conscious, then you are just one object among other objects. and there is nothing more. Gurdjieff's teaching makes this central point, the supreme point. He says, try to remember yourself without any object. Try to remember yourself without any object, without in relation to anything else. Remember yourself directly, simply. It is very arduous. In a way, it seems impossible. You cannot remember yourself without in any way related to something else. Can you? Can you remember yourself? Can you feel yourself? Whenever you feel, you feel in relation. Someone's son, someone's daughter, someone's husband, rich, poor, belonging to this country or that, healthy or ill, but this is all in relation to something else. Can you remember yourself without any relation? Unrelated. Without any context, just you. It becomes inconceivable. Really, we have not known ourselves we have known only in relation. And this is the miracle that you know yourself in relation to someone who knows himself in relation to you. See the absurdity of it. Everyone is knowing because of others and the others are knowing because of him. Everyone is ignorant. But being related with other ignorant people, you become you become wise. You know yourself because you know your name, you know your house, your address, your city, your country. And not for a single moment you have known who you are. This susupti, this third state of unconsciousness must be broken apart, must be penetrated beyond. One must become aware of oneself without being related to anything else. This is self-knowledge. This fourth is known as the Turi. इस चौथी अवस्था का नाम है तुरी जब कोई इस तीसरे को तोड़ डालता है और सारा जगत मिट जाए कोई ना हो तो भी जागा रह सकता है चांतारे बुझ जाए जमीन खो जाए सब नष्ट हो जाए कुछ भी ना बचे मैं अकेला ही बचूं और फिर भी जागा रहूं फिर भी मुझे होश हो चारों तरफ शून्य छा जाए सब रिक्त हो जाए खाली हो जाए अकेला मैं ही बचू जानने को कुछ भी न बचे जानने वाला ही बच रहे कोई गैर पदार्थ न रह जाए केवल ज्ञाता ही रह जाए कोई शब्द ना सुनाई पड़े सिर्फ सुनने वाला बचे कोई दृश्य ना दिखाई पड़े केवल देखने वाली क्षमता रह जाए उस समय भी अगर मैं होश में रह जाऊं तो उस अवस्था को भारतीय मनीषा कहती है वो चतुर्थ अवस्था ही वास्तविक अवस्था है वही तुरी है और उसे जो पा लेता है वो सब कुछ पा लेता है जिसने उसे नहीं पाया उससे केवल वस्तुओं को या विचारों को संग्रहित करता रहता है और धोखे में रहता है धोखे में रहता है कि मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं छीन लो उसके विषय और छीन लो उसके विचार और वो खो गया नींद में और कुछ भी नहीं बचा उसके बाद एक आदमी के पास बहुत धन है जब हम उसका धन छीनते हैं तो उसे जो तकलीफ होती है वो तकलीफ सिर्फ धन के छीनने की नहीं है धन के छीनने के साथ साथ उसकी आत्मा भी छीनती है क्योंकि आत्मा तो उसके पास है नहीं वो धन के संबंध में ही थी जब हम किसी आदमी से उसका महल छीनते हैं तो महल ही नहीं छीनता उसकी आत्मा भी छिनती है क्योंकि आत्मा तो उसके पास थी ही नहीं जितना बड़ा महल था उतनी ही बड़ी आत्मा का वहम था वो महल छिन गया उतनी ही आत्मा छिन गई इसलिए संन्यास ने एक अद्भुत प्रयोग किया हजारों साल में इस पृथ्वी पर इस भूमि में संन्यास का एक अनूठा प्रयोग हुआ वो प्रयोग मैं आपको इस संदर्भ में कहूं वस्तुतः वो त्याग की बात नहीं है वो वस्तुतः इस बात की कोशिश है कि एक व्यक्ति सब कुछ छोड़कर देखता है कि फिर भी मैं बचता हूं या नहीं सवाल ये नहीं है कि संसार बुरा है इसलिए छोड़ दो और सवाल ये नहीं है कि घर बुरा है इसलिए छोड़ दो और सवाल ये नहीं कि पत्नी पाप है इसलिए छोड़ दो संन्यास का जो अनूठा प्रयोग प्राथमिक रूप से हुआ वो इस चेष्टा में था कि क्या मैं सब छोड़कर भी बचता हूं अगर नहीं बचता हूं तो मैं नहीं ही था धोखे में था अगर सब छोड़ के भी बच सकता हूँ पत्नी नहीं मेरी बेटा नहीं मेरा मित्र नहीं मेरे घर नहीं मेरा धन नहीं मेरा निपट नंगा अकेला खड़ा हूं राह पर फिर भी क्या मैं बचता हूँ अगर बच सकता हूँ तो ही मेरे पास आत्मा है अगर नहीं बचता हूँ तो मुझे आत्मा की खोज करनी चाहिए ये इसलिए नहीं था छोड़ना कि चीजें बुरी हैं इसलिए था छोड़ना कि चीजों के साथ रहने पर ख्याल आना मुश्किल होता है कि मैं भी हूं या केवल चीजों का जोड़ ही है जंगल छोड़कर जाता था साधक इसलिए नहीं कि शहर कुछ बुरा है और इसलिए भी नहीं कि गांव में सत्य नहीं मिल सकता है इसलिए भी नहीं कि परमात्मा कुछ भयभीत है गांव में आने को वहां भी आ सकता छोड़कर जाता था एकांत में सिर्फ इसलिए कि क्या अकेले में भी मैं बचता हूं कि सो जाता हूं अकेले में मुझे होश रहता है कि खो जाता है जब मैं सबको छोड़ देता हूं फिर भी मैं होता हूं या नहीं होता अगर होता हूं तो ही मेरे पास आत्मा की कोई छोटी मोटी संपदा है अन्यथा नहीं है अगर नहीं है तो खोज पर निकलूं अगर है तो उसे बड़ा करूं इसलिए जब बुद्ध महावीर अपनी आत्मा को पा लेते हैं तो गांव वापस लौट आते हैं अब कोई बहुत डर नहीं है अब कोई चिंता भी नहीं अब वे जानते हैं कि वे हैं हम बिल्कुल नहीं इसलिए हमें वस्तुओं से इतना मोह होता है वो मोह वस्तुओं का नहीं है वो हमारी आत्माएं हैं जब कोई आपसे आपकी कमीज छीनता है तो कमीज नहीं छीन रहा आपके प्राण छीन रहा है वो कमीज नहीं है सिर्फ कमीज ही होती तो इतने परेशान होने की बात न थी तो जीसस ने कहा है अपने अनुयायियों को अगर तुमसे कोई तुम्हारा कोट छीने तो कमीज भी उसे दे देना पता नहीं जरूरत हो संकोच बस न छीनता हो इसलिए नहीं इसीलिए कि तुम इतने जोर से कमीज को मत पकड़ लेना कि ऐसा लगे तुम्हारी आत्मा और अगर कोई तुमसे कहे कि एक मील तक बोझ को ढो तो तुम दूसरे मील तक ढो देना सिर्फ इसीलिए कि ताकि तुम कह सको कि इस शरीर को मैं अपना ही नहीं मानता ये तुम्हारा भी उतना ही है चैतन्य पैदा होता है सुसुप्ति को तोड़ने से मैंने गुरजीफ का नाम लिया गुरजीफ अपने साधकों को कहता था कि अपनी घड़ी पर नजर रखो सेकंड का कांटा घूम रहा है तुम एक छोटा सा प्रयोग करो सेकंड के कांटे को याद रखो और देखते रहो कि सेकंड का कांटा घूम रहा है और साथ ही ये भी याद रखो कि मैं इसको याद रख रहा हूं सिर्फ छोटी सी बात है लेकिन इतनी छोटी नहीं करेंगे तो पता चलेगा बड़ा कठिन एवरेस्ट पे चढ़ जाना आसान ये बहुत छोटा सा प्रयोग बहुत दुस्तर ये घड़ी का कांटा घूम रहा है सेकंड का ये साठ सेकंड में एक मिनट का चक्कर पूरा करेगा अब कहता था अगर तुम पूरे एक मिनट भी इतना याद रख सको तो मैं कहूंगा तुम्हारे पास थोड़ी बहुत आत्मा है इतना भी एक मिनट कि कांटा घूम रहा है ये भी याद बना रहे और ये भी याद बना रहे कि मैं याद रख रहा हूं डबल एरोड कॉन्सियसनेस दोहरे तीर इधर कांटे को भी देखते रहो और इधर स्वयं को भी मैं देख रहा हूं और आप हैरान होंगे कि तीन चार सेकंड भी नहीं चल पाता कि झपकी आ जाए तीन चार सेकंड नहीं चल पाता या तो कांटा भूल जाता या खुद भूल जाते हैं दो में से एक भूल जाते एक मिनट याद रखना मुश्किल है कि मैं हूं तो सुसुप्ति बड़ी गहरी होती अगर कांटा भूलता है तो भी सो गए कांटा कब भूलता है कांटा तब भूलता है जब कोई और विचार बीच में आ जाता है और ध्यान वहां खिंच जाता है कांटा भूल जाता है अगर कांटा नहीं भूलता और जबरदस्ती रोक के कांटे पे ध्यान रखते हैं तो भीतर से ध्यान खिसक जाता है कि मैं ध्यान रख रहा हूं अत्यंत दयनीय मालूम पड़ती है आदमी की स्थिति की एक मिनट भर याद ना रख सके कि मैं हूं लेकिन इसका कारण है और इसका कारण है सुसुप्ति की धारा को हमने कभी छुआ ही नहीं हम गहरे में सोए ही हुए हैं थोड़ी बेचैनी बाहर होती है एक आदमी सो रहा आप उसकी टांग खींच देते हैं तो एक कर्ब के जरा सी आंख खोलता है और कुछ बड़बड़ा तो फिर सो जाता बस ऐसी हमारी जागृति है मजबूरी है भूख लगती है इसलिए सुबह उठना पड़ता है मजबूरी है नौकरी करनी पड़ती है बच्चों को भोजन जुटाना पड़ता है इसलिए दफ्तर जाना पड़ता है चले जा रहे हैं खिंचे हुए जैसे कोई टांग खींच रहा है नींद में और जैसी फुर्सत मिलती है छोड़ के आदमी सो जाता है अगर आपको कोई मौका दे 24 घंटे सोने का आप जगना चाहेंगे कोई अगर व्यवस्था कर दे कि सो चौबीस घंटे आप जगना चाहेंगे जगना मजबूरी है इसलिए जिनके पास सुविधा हो जाती है वो शराब पी के सोने लगते क्योंकि अब जगने की कोई जरूरत नहीं रही जिन्हें और सुविधा हो जाती है एलएसडी है मैरिजुआना है मस्कलीन है उनमें डूब जाते जब भी कोई समाज थोड़ी सी सुविधा जुटाता है तो पहला खर्चा शराब पर करता है समाज की छोड़ में एक आदमी भी थोड़ी सी सुविधा जुटा लेता है तो पहला खर्चा शराब पर कर देता है क्यों बेहोश होने की इतनी आकांक्षा क्यों क्या होश इतना दुखद है जिस होश को हम जानते हैं वो बड़ा दुखद है वो ऐसे ही जैसे जबरदस्ती कोई खींच के जगाए रखे और मौका मिले और आप तत्काल नींद में खो जाए और गिर जाए सुसुप्ति की परत हमारे भीतर भरी है नींद हमारे भीतर भरी ये तीसरी अवस्था है और साधक को जान लेनी ठीक से जरूरी है क्योंकि इसको तोड़े बिना चौथे तक पहुंचने का कोई उपाय नहीं ऋषि ने कहा है सब इंद्रियों के शांत बन जाने पर विशेष ज्ञान न होने पर विषय जब ग्रहण नहीं होते तब उस समय आत्मा की अवस्था को सुसुप्ति कहा जाता है और इन तीनों अवस्थाओं की उत्पत्ति और लय को जानने वाला और स्वयं उत्पत्ति और लय से निरंतर परे ऐसा जो नित्य साक्षी चैतन्य है वही तुरी है यह तीन अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुसुप्ति लेकिन किसकी है ये अवस्थाएं कौन है जो इन तीनों में चलता है कौन है जो जागता और कौन है जो स्वप्न देखता और कौन है जो सोता है निश्चित ही वो अलग होगा निश्चित ही वो अलग होगा मैं एक स्टेशन से गुजरता हूँ फिर दूसरी स्टेशन से गुजरता हूँ फिर तीसरी स्टेशन से गुजरता हूँ ये तीनों स्टेशन निश्चित ही यात्री अलग होगा मैं स्टेशन नहीं नहीं तो दूसरे स्टेशन पर कैसे पहुंच पाता दूसरे स्टेशन भी मैं नहीं हूं क्योंकि मैं तीसरी पर पहुंच जाता हूं और तीसरी भी मैं नहीं हूं क्योंकि मैं फिर दूसरी पर फिर पहली पर चला आता हूं आदमी जागता है स्वप्न देखता है सोता है फिर सोता है फिर जागता है फिर स्वप्न देखता है तीनों में डोलता रहता इसलिए ऋषि कहते हैं कि जो इन तीनों में डोलता रहता है वो चौथा होना चाहिए वो तीन में तीन में से कोई भी नहीं हो सकता we must make a distinction between the being and the state any stage whether it is the awake Are the dreaming? Are the non-dreaming sleep? Cannot be synonymous with the being. Because being is that upon which these states happen. Being is that who goes through all these three states. He cannot be identified with any, otherwise he cannot move. You cannot be awake again if you are identified with dreaming. If you are dreaming, then you cannot be awake. If you are the awake, then you cannot go into sleep. But you move. Just as one moves in his house and out of his house, you come in and you go out so you cannot be identified with your inside house or your outside house. You move. You can come in, you can go out. So you become the third. You move from dreaming to non-dreaming. You move from sleep to dream, from dream to the awake. So this mover must be something else, else than all the three. This is the fourth. Hence, it is called the fourth. And therefore, no name is given to it. Because from the fourth, it can never move. From the fourth, it can never move. When I say this, a question must have come into your mind. But this fourth goes into sleep, goes into dreaming another state. This is something very subtle to be understood. No, this fourth never goes anywhere. Those states come upon it and pass. This fourth remains in itself constantly. Dreaming comes over it just like clouds coming on the sun. The sun remains. Then there are clouds. Then the clouds have gone. This fourth is the non-moving center within you. Dreams come. Then objects are seen then thoughts are seen, then objects drop and thoughts drop, and you are engulfed in a dark sleep. But the fourth remains in its center. It has never moved. That's why no name has been given to it. No name is needed. It remains the nameless. One has to penetrate to this fourth. Hmm, this is not the state. Really, when we talk, we have to call it the fourth state, but it is not the state. All the three are states. This fourth is beyond these states. This fourth is the being. This fourth is the very nature of oneself. Unless one goes to this fourth, unless one becomes aware of this non-moving center, unless one is centered in it, there is no freedom and there is no bliss. Really, there is nothing except dreaming. Many, many dreamings, many type of dreamings, but nothing else. Just bubbles in the air. this fourth how to achieve this fourth how to reach this fourth how to penetrate this deep sleep how to dispel this darkness within what to do the one, the basic thing is to be aware. First, in the first stage, when you are awake, be aware. Be aware whatsoever you are doing. Walking on the street, then be aware that you are walking. Let your awareness be double arrowed. One arrow, conscious of the act of walking, another arrow going deep inside and aware of the walker. Listening to me, be aware, double-arrowed, one arrow of your consciousness going outside, listening attentively, another going inside, constantly aware of the listener. Mahavir has a very beautiful word. He has used listener, Sravak, in a very original meaning. And he has given a very new shape, a new nuance to it. He says, if you can be simply a right listener, nothing else is needed. This much will do. If you can be a right listener, samyak sravak. If you can listen attentively with double-arrowed attention, then this much is enough. You will be awakened. No other discipline is needed. Buddha has used the word mindfulness samyak smriti right mindfulness he says whatsoever you are doing do it mindfully don't do it in sleep do it mindfully whatsoever you are doing do it consciously, then consciousness begins to crystallize in the first stage, the aware. When you have become conscious, when you are awake, then your consciousness can penetrate the second stage, dreaming. It is not difficult then. Then you can become conscious of your dreams. And the moment you become conscious of your dreams, dreams disappear. The moment dreams disappear, you become conscious of your dreamless sleep. And the arrow goes on. Now be aware that you are asleep. And by and by the arrow penetrates and suddenly you are in the fourth. क्या kare कैसे संभव होगा इस सुसुप्ति को कैसे तोड़ पाएंगे सब तरफ घेरे हुए हैं नींद चलते हैं सोए हुए उठते हैं सोए हुए बैठते हैं सोए हुए जो भी कर रहे हैं सोए हुए बुद्ध गुजरते हैं एक रात तब की है बात जब वे बुद्ध न थे एक मित्र साथ है एक मक्खी बुद्ध के कंधे पर आकर बैठ गई बुद्ध ने मित्र से बातें जारी रखी राह पर चलते रहे मक्खी को हाथ मारकर उड़ा दिया फिर ठिटक के खड़े हो गए मित्र ने पूछा क्या मक्खी ने काटा लेकिन बुद्ध ने आंखें बंद कर ली मित्र को जवाब न दिया हाथ को उठाया वापस उस जगह ले गए जहां थोड़ी देर पहले मक्खी थी अब नहीं थी उड़ाई उस मक्खी को जो अब वहां नहीं थी वापस हाथ को नीचे लाए मित्र ने कहा पागल हो गए मक्खी तो उड़ गई पहले ही चोट में अब क्या उड़ाते बुद्ध ने कहा अब मैं इस तरह उड़ाता हूँ जिस तरह मुझे पहले उड़ाना चाहिए था मैंने बेहोशी में उड़ा दिया ये हाथ ऐसे उड़ गया जैसे नींद में मुझे पता ही न चला मैं तुमसे बात करने में लगा रहा हाथ उड़ गया मक्खी उड़ गई तब मुझे पता चला कि मैंने मक्खी उड़ाई और मुझे पता ही नहीं था कि मैं उड़ा रहा हूं ये नींद थी इसे तोड़ने के लिए अब मैंने कोशिश करके देखी कि मुझे मक्खी कैसे उड़ानी चाहिए थी यह हाथ उठा इसके साथ चेतना उठी ये हाथ होश पूर्वक गया कंधे पर उसने मक्खी को उड़ाया जब मैं इस मक्खी को उड़ाया तब मैं जान रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ तब मैं ये भी जान रहा था मैं क्या कर रहा हूँ और मैं ये भी जान रहा था कि मैं जान रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ दिस इज डबल एरो ये है दोहरा तीर चेतना का बुद्ध ने कहा अब दोबारा मक्खी बैठे तो ऐसे में उड़ाऊंगा इसका थोड़ा अभ्यास किया आगे चले अगर हम ऐसा सोचे तो हमारे हमारे सारे के सारे काम नींद में मालूम पड़ेंगे अब जो आदमी मक्खी भी नहीं उड़ा सकता बेहोशी में क्रोध कर सकेगा गाली दे सकेगा ईर्षा कर सकेगा द्वेष कर सकेगा सभी कुछ नींद में होता है होश के साथ गिरना शुरू हो जाता आनंद बुद्ध के साथ वर्षों था एक दिन बुद्ध से उसने पूछा कि और तो सब ठीक है एक बात भर मेरी समझ में नहीं आती रात में सोते हैं आप कि नहीं बुद्ध ने कहा रोज तू जानता है कि मैं सोता हूं आनंद का वो तो मैं भी देखता हूँ लेकिन जहाँ पैर रखते हैं वहीं रखा रहता है रात पर और जहाँ हाथ रखते हैं वहीं रखा रहता है कल तो पूरी रात जाग के मैं बैठा रहा कि देखें भी आदमी हाथ पर भी हिलाता करवट भी बदलता कि नहीं तो वहीं के वहीं हाथ रखे रहे रात भर संभल के सोते हैं तो क्या सो पाते होंगे ऐसे सोएंगे बुद्ध ने कहा एक दफा भर जीवन में ऐसा हुआ था कि मैंने करवट बदली थी और मुझे पता नहीं था उस दिन के बाद करवट ही नहीं बदली उस दिन से करवट ही छोड़ दी ऐसी चीजों से दोस्ती ही क्या रखनी सोया रहता हूं जागा हुआ हाथ जहां रखा है वहीं रहना चाहिए हाथ मेरा है और मेरी आज्ञा के हिले तो मैं गुलाम हो जाता हूं मैं मालिक नहीं हूं तो जागरण से जागना शुरू करना पड़े जिसे अभी हम जागरण कहते हैं उसमें जागना शुरू करना पड़े जागते जाएं कोशिश करें कोशिश करें और जागे फिर धीरे धीरे जब जागने में जागना पैदा हो जाता है तो आप दूसरी तरफ प्रवेश कर सकते हैं जो जागने में जाग गया अचानक नींद में उसे सपनों का पता चलने लगता है कि ये रहा स्वप्न और जैसे ही पता चलता है वैसे ही स्वप्न खो जाता है क्योंकि होश पूर्वक स्वप्न नहीं हो सकते स्वप्न के लिए बेहोशी जरूरी है और जब स्वप्न खो जाते हैं तो जागरण तीसरी दशा में प्रवेश करता है फिर जागरण का तीर सुसुप्ति में घुसता है और तब आदमी को पता होता है कि मैं सो रहा हूं उसका अर्थ यह हुआ कि उसको पता होता है शरीर विश्राम कर रहा है बस वैसे व्यक्ति की निद्रा एक विश्राम है और आपकी निद्रा भी एक श्रम है एक आदमी को सोते हुए देखें तब आपको पता चले कि दिन भर जितनी मेहनत नहीं की उतनी वो नींद सोते में कर रहे हैं हाथ पटक रहे हैं सिर पटक रहे हैं मुंह बना रहे हैं पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं अभी सोए हुए आदमियों की में ली गई है उनको खुद को दिखाई गई तो वो बोले क्या मामला है ये मैं करता हूं ये नहीं हो सकता कुछ धोखाधड़ी कुछ चालबाजी आपकी फिल्म अगर रात भर उतारी जाए और फिर सुबह आपको दिखा जाए तब आपको पता चले कि आप ही करते रहे इतनी इतना उपद्रव नींद में भी उधर भी चैन नहीं हमारी नींद भी एक श्रम है और ऐसे व्यक्तियों का जागना भी एक विश्राम ऐसे व्यक्तियों का जागना भी एक विश्राम हमारी नींद भी एक श्रम हम नींद के बाद भी थके हुए उठते क्योंकि रात भर इतनी मेहनत हो जाती जिसका कोई हिसाब नहीं गलत नहीं कह रहा हूं नींद के बाद भी हम इस बुरी तरह थके उठते हैं और ये रोज का सिलसिला है दिन भर के थके रात सो जाते हैं रात भर के थके सुबह उठाते हैं जिंदगी हमारी एक लंबी थकान एक बोझ जिसको हम ढोए चले जाते वो मौत अगर ना आए तो इस बोझ से हमारा छुटकारा ही ना हो मौत आ जाती है जबरदस्ती हमसे बोझ छीन लिया जाता है मगर हम इतनी वासना से भरे हैं बोझ से हमारा इतना मोह है कि मर भी नहीं पाते कि नए जन्म की यात्रा पर हमारी चेतना निकल जाती नए बोझ की तलाश में नई बीमारों बीमारियों की खोज में नए उपद्रव जैसे ही चेतना का तीर प्रवेश करता है सुसुप्ति में प्रगाढ़ निद्रा को पार करता है वैसे ही फिर निद्रा शरीर का विश्राम रह जाती है कृष्ण ने जो गीता में कहा है कि योगी सोया हुआ भी सोता नहीं ये नहीं कहा है कि रात भर आंख खोल के खड़ा रहता जैसे कुछ पागल खड़े रहते हैं ये पागलपन ये दूसरा पागलपन हुआ कुछ पागल आंख बंद करके भी नहीं सो पाते कुछ पागल आंख खोल के खड़े रहते हैं कि कहीं नींद ना आ जाए क्योंकि कृष्ण ने कहा है योगी सोकर भी नहीं सोता पर वो समझे नहीं कि सोकर भी ऐसा खड़े होकर नहीं कहा है आंख खोल के खड़ा रहता ऐसे कुछ लोग हैं अभी मैं गांव में गया तो वहां एक खड़े श्री बाबा लोगों ने मुझे आज कहा कि आप खड़े श्री बाबा के संबंध में कुछ जानते क्या हुआ मैंने उनको क्या हो गया दस साल से खड़े इसलिए खड़े श्री बाबा उनका नाम मैंने कहा उनके दिमाग का इलाज करवाओ और क्या करो किसी तरह बिठाने की कोशिश करो किसी तरह सुलाओ पर उनको बिठाया नहीं जा सकता पैर हाथी पांव हो गए पैर सब लहू से भर गए हैं सब नसें जकड़ गई अब वो बैठ भी नहीं सकते मैंने लोगों से कहा कुछ भी करो इन्हें बैठे सिरी बनाओ उनको मत बुद्धि बिल्कुल छीण हो गई है हो ही जाएगी सब खून पैरों में चला गया बुद्धि के पास कुछ बचा नहीं आंखें देखें पथरा गई है ये आदमी जिंदा मौत में खड़ा है लेकिन पूछेंगे क्यों खड़ा है आदमी अहंकार के लिए कुछ नहीं कर सकता पैरों पर लोग सिर रख रहे हैं फूल चढ़ाए जा रहे हैं रुपए रखे जा रहे हैं मंदिर खड़े हो रहे हैं महंगा नहीं हो सौदा सस्ता है इतने मंदिर और इतने फूल और इतने सिर जैसे वो आदमी मुझे दिखाई पड़े निपट बुद्धिहीन वो पचास जन्म कोशिश करें तो एक मंदिर ना बना पाएंगे महंगा नहीं है सौदा और अब तो अभ्यास मजबूत हो गया अब तो उल्टा अभ्यास करने में बड़ी मसाज की जरूरत पड़ेगी बहुत मुश्किल है शायद ये पैर उनके वापस मुड़ पाए जड़ की भांति खड़े लेकिन क्या अगर कृष्ण से कहीं मुलाकात हुई तो ये उन पर मुकदमा चलाएंगे क्योंकि क्यों कहा था गीता ने कि योगी सोकर भी सोता नहीं कृष्ण भली भांति सोते रहे वो कभी खड़े हुए नहीं फिर भी गीता का ख्याल नहीं उठता कोई बुद्धिमान आदमी नहीं खड़ा रहा है जो इनके चरणों में सिर रखते हैं वो भी नहीं पूछते कि कृष्ण तक ऐसा अभ्यास नहीं किए बुद्ध ऐसा अभ्यास नहीं किए क्राइस्ट ऐसा अभ्यास नहीं किए आप क्या उनसे भी आगे निकले जा रहे लेकिन हमें ख्याल नहीं आता ये जो सोकर भी नहीं सोता सो जाता है शरीर सो जाते हैं तंतु सो जाते हैं स्नायु सब सो जाता है भीतर चेतना का दिया जला रहता गिर जाते हैं बादल चारों तरफ और सूरज अपनी रोशनी में मौजूद बना रहता जब ये सुसुप्ति पार होती है तो तुरी चौथी अवस्था उपलब्ध होती है अवस्था केवल शब्द के प्रयोग के लिए कहते हैं अवस्था वो नहीं है वो हमारा स्वभाव है वो हम हैं ही और ऐसा नहीं है कि जब हम भ्रांति में पड़े हैं बहुत तब हम बदल गए हो नहीं हमारी भ्रांति ठीक वैसी है जैसे कोई लकड़ी को पानी में डाले तो पानी में जाते ही सीधी लकड़ी तिरछी दिखाई पड़ने लगती है होती नहीं तिरछी होने जाती तिरछी सिर्फ दिखाई पड़ने लगती है बाहर निकाले फिर सीधी हो जाती हो नहीं जाती सीधी थी ही जब तिरछी दिखाई पड़ती थी तब भी सीधी थी जब बाहर निकालते हैं तो सीधी दिखाई पड़ती पानी केवल देखने में भ्रम पैदा करता है होने में नहीं तो जब चेतना उतरती है तीन अवस्थाओं में सुसुप्ति में स्वप्न में जागृत में तो लगता है खो गई खोती नहीं खोती जरा भी नहीं लगता है खो गई जब वापस लौटती तो पता चलता है मिल गई मिलती नहीं मिली ही हुई थी लेकिन ये भ्रम जरूर पैदा हो जाता है इस भ्रम को तोड़े बिना जीवन में कोई भी आनंद की झलक नहीं उपलब्ध होती इस भ्रम को तोड़े बिना अमृत का कोई स्वाद नहीं मिलता इस भ्रम को तोड़े बिना सत्य की कोई प्रतीति नहीं इस भ्रम को तोड़ना हो तो समझना काफी नहीं है समझना जरूरी है काफी नहीं समझना आवश्यक है पर्याप्त नहीं चलना पड़े यात्रा करनी पड़े एक यात्रा हमने की है वापस लौटना पड़े घर से हम दूर निकल आए घर की फिर खोज करनी पड़े हजार उपाय हो सकते हैं इस खोज के कोई भी एक उपाय पकड़ने तो भी पहुंचना हो जाता लेकिन अक्सर मैं देखता हूं तीन तरह के लोग एक तो वे लोग हैं जो इस डर से कि कुछ करना ना पड़े कहते हैं ये सब बातें पागलपन की हैं ये है ही नहीं ये है ही नहीं मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो इसलिए ईश्वर को इनकार करते हैं इसलिए नहीं ईश्वर से उनकी कोई दुश्मनी है इसलिए भी नहीं कि उन्हें पता है कि ईश्वर नहीं है इसलिए भी नहीं कि वे कोई नास्तिक है बल्कि सिर्फ इसलिए कि वे अत्यंत आलस्य से भरे अगर ईश्वर है तो फिर यात्रा की शुरुआत होगी फिर झंझट शुरू होगी बेहतर पहले से ही इनकार कर देना कि सब बातें हैं ही नहीं इससे निश्चिंतता रहती है इससे अपने आलस में हम प्रफुल्लित रहते हैं जो है ही नहीं उसको खोजने क्या जाना अगर होगा तो खोजने ना भी गए तो भी बेचैनी शुरू हो जाएगी अगर है तो फिर आप पड़े रहे अपने घर में ही बिस्तर पर तो भी बेचैनी शुरू हो जाएगी कहीं कोई पुकार भीतर होने लगेगी कि जो है उसे खोजे इसलिए बहुत बार मैं देखता हूं बहुत से धार्मिक लोग अधार्मिक होने का आवरण खड़ा किए रहते हैं सिर्फ इसलिए ताकि निकलना ना पड़े कहीं जाना ना पड़े कुछ करना ना पड़े उनका आलस्य उनकी नास्तिकता बन जाती दूसरे वे लोग हैं जो अपने आलस को नास्तिकता नहीं बनाते वे और भी कुशल हैं वे अपने आलस को आस्तिकता बना लेते वे अपने आलस में पड़े रहते हैं अपनी जगह पर और ब्रह्म चर्चा करते रहते हैं ब्रह्म चर्चा में कुशल हो जाना बड़ी सरल बात है किसी और चर्चा में इतना कुशल होना सरल बात नहीं क्योंकि आप झंझट में पड़ोगे अगर आपने कहीं पत्थर के संबंध में कोई वक्तव्य दिया तो प्रयोगशाला में सिद्ध करना पड़ेगा ब्रह्म के संबंध में जो मौजा है कहिए न कोई सिद्ध कर सकता न कोई असिद्ध कर सकता कोई उपाय ही नहीं आपको गलत करने का सही करने का भी नहीं गलत करने का भी नहीं इसलिए ब्रह्म चर्चा इतनी मजे की चर्चा है कि बुद्धू से बुद्धू कर सकता है इसलिए जो कुछ और नहीं करते वो ब्रह्मचर्चा कर लिया जो कुछ और कर नहीं सकते अगर वे कोई वक्तव्य दे जमीन के संबंध में तो पचास झंझटों में पड़ेंगे ब्रह्मलोक के संबंध में अगर आप नक्शा बनाए माथेरान का तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा ना आप जोक करनी पड़ेगी हजार मेहनत उठानी पड़ेगी कहा झंझट में पड़ते हैं सप्तखंड खंड का नक्शा बनाइए ब्रह्मलोक का नक्शा बनाइए कोई दुनिया में आपको चैलेंज भी नहीं कर सकता क्योंकि आप बिल्कुल चुनौती के बाहर इसलिए लोग अपनी खातों पर बैठे हैं और ब्रह्म चर्चा करते हैं हिलते नहीं वहां से आस्तिक समझते हैं अपने को आस्तिक नहीं है आस्तिकता चर्चा से तृप्त नहीं होती आस्तिकता अनुभूति मांगती है तो एक तो वे हैं जो कहते हैं ये सब बातें ही नहीं है इसलिए जाना कहा एक वे जो कहते हैं ये सब बातें हैं लेकिन हमें सब पता ही है इसलिए जाना कहा जाने की जरूरत क्या है जो भी है वो सब शास्त्रों में रखा है ऋषि मुनि पहले ही कह गए उस सब की हमें अब कोई खोजने की जरूरत नहीं है ध्यान रहे विज्ञान और धर्म में ये बुनियादी फर्क है विज्ञान में जो चीज एक बार खोज ली गई दूसरे को खोजने की जरूरत नहीं होती लेकिन धर्म में जो चीज खोज ली गई कोई इस भ्रम में न रहे क्या वो सदा के लिए खोज ली गई और आपको खोजना न पड़ेगी धर्म वैयक्तिक खोज है प्रत्येक को पुनः पुनः खोजनी होती है और यही तो मजा है इसलिए धर्म सदा ताजा है बासा नहीं होता विज्ञान तो बासा हो जाता अब न्यूटन बिल्कुल बासा है आज लेकिन ये सर्वसार आज भी ताजा है क्योंकि बार बार खोजना पड़ता है धर्म प्रेम जैसा है आप ये नहीं कहते कि देखो मजनू कितना प्रेम कर चुका फरियाद कितना प्रेम कर चुका अब हम और क्यों झंझट में पड़े तो प्रेम के संबंध में सब लिखा हुआ रखा है पढ़ लेंगे सीख लेंगे तुकबंदी कर लेंगे अब हम प्रेम की झंझट में क्यों पड़े नहीं किसी ने कितना ही प्रेम किया हो फरियाद कितना ही कर चुके होंगे आप न मानेंगे आप भी करेंगे बिना किए आप राजी न होंगे प्रेम वैयक्तिक है करोड़ करोड़ लोग कर चुके हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो बासा नहीं होता आप फिर करते हैं और आप जब करते हैं तभी जानते हैं उसके पहले आप जानते नहीं फरियाद से जानने का कोई उपाय नहीं बुद्ध से भी जानने का कोई उपाय नहीं ये प्रेम जैसा मामला है ये परमात्मा बिल्कुल प्रेम का मामला है ये फिर खोजना पड़ता है A religion cannot be a belief. Religion cannot be a tradition. Religion cannot be an accepted dogma. Religion is totally individual. One has to discover it again and again. And one has to know it for himself for oneself. Unless you know, there is no knowledge. All knowledge gathered from others is just false. It is pseudo. It is deceptive. One has to encounter the reality oneself. This is just like love. You know if you love. If you have not loved, you may know everything about love, but love will not be known. Because love is not really a knowledge, it is a realization. It is an experience. Rather, not even experience but experiencing because experience means something which you have experienced and now it is dead experience means something which has finished which is finished with a full stop experiencing means a process a continuous process you have to go on discovering discovering and there is no end to it. Religion is like love. There is a beginning to it, but no end. You have to begin it, but you never reach. You go on reaching. You go on reaching. But it is never a path. It is not that there comes a full stop and you can say, I have reached. No, never. That's why we call religious search the ultimate search. The ultimate we mean which begins but never ends. Rather, on the contrary, a moment comes when the seeker ends, not the search. A moment comes when you are lost, but the end has not been achieved. But this, this seeker being lost is the explosion. So unless you know, never believe. Unless you know, never feel at ease with words, doctrines, scriptures. Unless you know, remember continuously that you have to seek and find, that you have to go on a far, far away journey. And that's why religion really is the only adventure. All else is just childish, which can be found is just childish which can be found is not really the adventure. Which is possible needs no courage. Only the impossible needs courage. That which cannot be found. If you go on to search it, you have gone on an adventure. But the moment one is ready for the impossible, the impossible becomes possible. The moment one is ready to take the jump, the miracle happens. You you are not in a way in the jump. You are lost understood for the first time you are. You have found yourself. The states are lost. The identities are lost. The names and forms are lost. Remains only the original source of all. This Rishi says, these are the states, these three are the states. The fourth is the knower of all these states. These three states come out of the fourth, again are dissolved in the fourth, and the fourth never comes out of anything and is never dissolved in anything else. The fourth is the eternal principle, the eternal life, the eternal aliveness ये जो चौथा है जिससे तीन का जन्म होता निद्रा घनी होती स्वप्न बनते जागृति होती और फिर तीनों जिसमें वापस लीन हो जाती ये चौथा ना तो किसी से जन्मता है और ना किसी में लीन होता है ये शाश्वत सिद्धांत है जीवन का ये जीवन का आधार है प्रारंभ भी यही अंत भी यही और जिसने इसे नहीं जाना वो केवल बीच की परिभ्रमणाओं में भटकता है आज इतना ही अब हम प्रयोग की तैयारी करें दो तीन बातें आपसे प्रयोग के लिए कह दूं कल तो धूल से आपको बहुत तकलीफ हो गई इसलिए आज जो लोग तेजी से करने वाले हैं वो मंच पर ऊपर रुकेंगे जो थोड़ा धीमे करना चाहते हो वो थोड़े नीचे फैल जाएंगे इस प्रयोग में बहुत क्रांतिकारी परिणाम आ सकते हैं लेकिन आपको अपनी पूरी शक्ति लगानी जरूरी है इसलिए इसे रात में रखा है सुबह का प्रयोग दोपहर का प्रयोग आपकी सामर्थ्य को हिम्मत को बढ़ाएगा तो आप रात के आखिरी प्रयोग में पूरा दांव लगा सके और फिर सो ही जाना है इसलिए थकने का डर ना करें थक ही जाएंगे ना कुछ बिगड़ा नहीं जा रहा है नींद गहरी आ जाएगी और कुछ ज्यादा नहीं होगा पूरी ताकत लगानी जरूरी है तो जो लोग तेजी से करने वाले हैं those who are going to do the experiment very vigorously and whole heartedly they must come near me and all others who want to do it half heartedly they can go